काम क्या हवा चले लेकिन धूल रोटी थोड़ी दिखाओ इसलिए कहना भूमि मिलती करे क्रोध दिन धर्म ही दूरी अब ये धान से प्रकार के रूप धर्म का और क्रोध का विरोध अगर क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति है तो वो धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकता न्याय नहीं कर सकता वो भले समझता है कुछ भी कभी कभी लोग आज समझते हैं हम क्रोध इसलिए करते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलते हैं लोगों को चलाते हैं इसलिए क्रोध करते हैं ऐसा नहीं करते जब क्रोध आता है जब व्यक्ति की बुद्धि विकसित हो जाती और विपरीत आचरण करने लगती इसलिए कहती क्रोध त्याग में क्रोध को क्रोध महा दुष्ट असर है निशाचर है बुद्धि को बिगाड़ने वाला है इससे दूर है करे क्रोध दिन धर्म दूरी धर्म को दूर कर देता है फिर उसका धर्म मुक्त हो जाता है क्रोधी तो व्यक्ति का शशि संपन्न से हो नहीं कहते कहते शशि संपन्न सच तो मैंने किसानों ने धान दे दी वर्षा ऋतु आई और धान को तो बड़ी बड़ी हुई और बड़ी होकर के धान खेतों में गहरा रही है तब तो पृथ्वी कैसे सुंदर लगती है तब तो उसको देखो सस संपन्न से हो नहीं कैसे कैसे उपकारी कै संपत्ति जैसे जैसे उपकारी व्यक्तियों की संपत्ति उसकी शोभा संपत्ति की शोभा तब है जब दूसरे लोगों के काम आए अन्य लोगों का हित हो तो यहाँ पर उपकारी लोगों के समान पृथ्वी है हाँ? और जो पृथ्वी ने क्या किया है समाज के लोगों के लिए खाने पीने के लिए धान पैदा कर दिया अन्न पैदा कर दिया तो अन्न कोई पृथ्वी के अपने खाने के लिए थोड़ा पृथ्वी ने अन्न उत्पन्न कर दिया है समाज के लोग बाग मनुष्य खाएंगे पशु खाएंगे तो उनके खाने के लिए उसने पैदा किया परोपकार के लिए भोग ने <coughs> धान पैदा किया है इसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति हैं प्यारे व्यक्ति हैं उनका धन अर्जन तो वो करते हैं धन तो नहीं प्राप्त होता मिलता है लेकिन उस धन का वो प्रयोग समाज के हित के लिए करते हैं ये प्रकृति का नियम इस प्रकार गीता ने भी भाव गोस्वामी जी ने यही दिखाया तीसरे अध्याय में कि देखो ये संपत्ति धन संपत्ति क्या जो कुछ भी प्राप्त होती है ये अन्य लोगों के हित के लिए उपकार के लिए लगनी चाहिए ये उसका सदुपयोग है यहाँ पर भी देखें कहते हैं निश्चित घन शब्दों को विराजा अब जब दशहरा कभी जब रात होती है तो निश्चितम उस समय खुद घना अंधेरा भी होता है बरसात में बादल होते हैं तो तारा और चंद्रमा इत्यादि का भी प्रकाश नहीं रह जाता खूब घना अंधेरा होता है बरसात का तो उस समय निश्चितम धन घनतम नी घन के कारण कम अथवा धन घनतम तो वेद है इसलिए खूब अंधेरा है अथवा खूब अंधेरा घने मन घना अंधेरा उस समय क्या होता है सब ज्योत विराजा और देखना जुगनी फिर जुगनी तनातन चमक रहे हैं तो जुगनी तब चमकते हैं जब खूब अधेरा होता तब उनकी चमक दिखाई देती है तो जल गंधन कर मिला समाजा जो जुगनी क्या है गंभीर हम्म, है जैसे गंभीर लोग जो है उनका समाज है अब जुगनी में तो हुआ है लेकिन बड़ी देर को समझता है अपनी ताकत पर और वो सोचता समझता है कि हम ऐसा मेरी रात में कई वेला कर देंगे सब जगह तो चमकन प्रकाश हो जाएगा लेकिन उनके लिए वो प्रकाश होता नहीं हम्म। जुगनी के चमकने से प्रकाश कितना जुगनी जब चमकता है जुगनी जब चमकेगा तो उसके प्रकाश में सब दिखाई देगा जुगनी जब दिखाई देगा तो उसके प्रकाश में तो ये थोड़ी दिखाई देगा कि उसके सामने पेड़ है ये आदमी खड़ा हुआ है ये कोई आ रहा है कोई जा रहा है जुगनी की प्रकाश में कहा दिखाई देगा ऐसे करके बंदी लोगों का ज्ञान कितना है हाँ, वो तो अपना दमे में बक बक बक करें ज्ञान की लेकिन उस ज्ञान में कुछ नहीं उनकी बटन बटन सुनाई देगी और उसको कुछ सार रखने की नहीं करना ऐसे कहते हैं कि महावृष्टि चले फूट प्यारी तो कहते हैं बहुत पानी बरसा तो प्यारी फूट चले चारी में खेत की क्यारियां बना दी जाती ज्यादा पानी बरसता है तो चारी फूट करके पानी बह जाता है खेत का पानी दूसरे ऊंचे वाले खेत का पानी बह करके नीचे वाले खेत उसका पानी खेत के पानी से दूसरे में बह गया चारियों फूट ज्यादा पानी बरसा अब ये अब स्पीकर दिखाई दिया और कहा कि जिस दिन स्वतंत्र भय विवरण नारी तेजस्वी स्त्रियां स्वतंत्र होकर करके बिगड़ गई मेरी कार्यों क्या है एक प्रकार की मर्यादा है तो मर्यादा को यहाँ पर स्त्रियों के साथ में जोड़ा अगर मर्यादा में रहेगी तो कुछ ठीक रहेंगी मर्यादा का उल्लंघन करेंगी तो मर्यादा का छोड़ना में स्वतंत्र होना या स्वतंत्र कोई वैसे अर्थ में नहीं है कि उनकी स्त्रियों की निंदा करने का अर्थ में कि जैसे पुरुषों का ब्रह्म माता है उनके लिए मर्यादा में रहना आवश्यक है ऐसे उनको भी मर्यादा में रहना आवश्यक है तो जब मर्यादा में रहेंगे तो तो वो ठीक रास्ते पर चलते रहेंगे धर्म में उनका जीवन बना रहेगा उनका भी कल्याण उपकार होगा उनका हित होगा लेकिन यदि उन्होंने मर्यादा छोड़ दी तो वो भी नष्ट हो जाएंगे तो इसलिए कहते हैं कि जिन स्वतंत्र भय विग्रह नारी और कृषि निवारण चतुर किसाना अब कहते हैं खेती बड़ी होने लगी आगे स्वयं तो उनसे बताते हैं तो बातचीत बरसा की बातें बढ़ते हैं तो पानी बरसा फिर उसमें धान पैदा हुए बड़े हुए अब कृषि पैदा हो गई तो अब किसान लोग अब देखो बरसा ऋतु जब मैंने अब बरसा ऋतु पूरी होने के पर आ गई खत्म होने के तरफ आ गई तब तक आप धान काफी बड़े हो गए हैं अब किसान लोग अपनी निराई कर रहे हैं खेतों की निराई करने के मैंने खरपतवार उसमें निकाल के फेंकना और पौधे पौधे रखना तो कृषि निरावी चतुर किसान अब दो प्रकार के किसान हैं हैं एक ऐसा किसान है जो उसमें से जितने खरखट बारह निकाल के बाहर फेंकेंगे और ध्यान ध्यान रखेंगे उसमें और दूसरी चतुर नहीं है ना समझ है वो क्या समझेंगे हर एक साथ धान पैदा हो रही तो चलो उसमें बचवा भी हो रहा है तो क्या खराब है उसको और कौन जाए वहां कौन इतनी मेहनत करे कहते हैं कृषि में रहे हैं चपल किसान है चपल किसान लोग खेती करते हैं उसका करते हैं जो बुद्ध तक जिन लोगों ने माना बस देखो बुद्धिमान को समझदार देते इसी प्रकार से अपने मन की भी निराई करते रहते हैं सदगुण को आरोपित करते रहते हैं उनके बीज बोते रहते हैं और जो दुर्गुण है उनको लिए खुद खुद खुद के खोजते रहते हैं ऐसे काम नहीं चलेगा सार हम क्या करेंगे तो हमारा स्वभाव अब जैसा है हमारा तो भी स्वभाव मैं से भागन क्या करें तो ध्यान होता अरे ऐसे काम नहीं चलेगा निराई करो उसको ये तृतीय से खुद देखोगे उसके सामने सदगुणों का आरोपण करो ये लोग बुद्धिमान व्यक्ति होंगे समझदार व्यक्ति होंगे लगता है ये कोई कुछ भी करे उसको क्या कहना उसको मित्र के लिए कोई शिक्षा नहीं है समझदार व्यक्तियों के लिए शिक्षा है तो जिन बुद्धि का जन लोग मद माना ये सब लोग दूर करो मद को दूर करो मान अभिमान को दूर करो ये सब दुर्गुण है इनको सबको निकाल सको जब तक ये अपने निकाल तो नहीं सोचेंगे मन से तो मां सदगुण आएंगे द्वितीय को चक्रवात <clears throat> पक्षी खगन पक्षी चक्रवात पक्षी जो वो है चकवे चकवी जो हम बरसात में नहीं दिखाई देते दिखाई नहीं देते अभी थोड़ी मर गए सब अरे वो कहीं अन्यत्र चले जाते हैं वो दिखाई नहीं देते कहीं पृथ्वी कहीं छिप जाते हैं तो ये चले पाए जिन धर्म पर आए बस ऐसी दिशा होती चले धर्म का भी ऐसे ही जब चले जाता है तो समाज में संजय को देखो तो कहीं धर्म नहीं दिखाई तो उसके माने ये नहीं कि कभी अगर धर्म में दिखाई देता तो हमें हमें भी अधर्मी को तो चलना चाहिए ये शिक्षा थोड़े तो अरे भाई तो कभी का प्रभाव है समाज की तरफ देख करके आप चलोगे तो समाज में कहीं धर्म देखने को मिलेगा नहीं और उसी का अनुसरण करोगे तो तुम भी उन्हीं के साथ में सबके साथ में धर्मी हो जाओगे और जैसे सब लोग अपना विनाश कर रहे हैं तो अपना भी विनाश करोगे वो तो समाज में सब लोग अपना अपना अहित कर रहे हैं अधर्म के ऊपर चल करके अपनी मन बुद्धि को विकृत कर रहे हैं दुर्वासनाएं शक्ति कर रहे हैं अपने अशांति मन में उत्पन्न कर रहे हैं चिंता भयक्लेश पैदा कर रहे हैं तो और बाहरी रूप से आप कुछ दिखाई देता वो बड़े संपन्न हो रहे अगर उनके निकल करोगे तो अपने आप भी अपने मन को शांत अशांत कर लोगे दुखी बना इसलिए करके कलियुग में समाज में धर्म आपको दिखाई दीजिए न दिखाई दे तो आप ये न समझो कि धर्म खत्म हो गया दिखाई नहीं देता धर्म तो अचल है तो हमारे लगन तो कभी कभी नष्ट नहीं होता लोग पालन करते तो दिखाई देता नहीं पालन करते तो नहीं दिखाई देता बस इसलिए कहते हैं कि <clears throat> जैसे बरसात को भी चक्रवात नहीं दिखाई देता ऐसे कलयुग में भी धर्म दिखाई नहीं देता दिखाई पाता ही देखता अब नहीं दिखाई दिखाई देता तीन तो दूसर बरसे कर्म नहीं जानना और देखा पानी शब्द जब बरसात खेती हुई किसानी तो मिलाई हुई ये शब्द हुआ <clears throat> लेकिन दूसरे वर्षा ही पहले नहीं जाना है पानी की वर्षा बरसात तो फिर लेकिन दूसरा नहीं बरसा तो वहां क्या पैदा हुआ माना घास पैदा हुई खेती धन पैदा हुई मैं कुछ पैदा नहीं ऐसे ही जिन हरिजन हुए उपज में पाना है ऐसे ही भगवान के भक्तों का हृदय नीरस होता है नीरस हृदय उसमें कामना उत्पन्न नहीं है विष्णु का रस उसमें उत्पन्न नहीं होता आपको कहेंगे कि बड़े खराब उदाहरण दे दिए सर की तरह बता दिया इसलिए विकास मानी निकाले हुए भक्तों का अगर अनुसर हो गया हाँ तो ये गया जब उनको अब वहां पर अनुसर तो गई है वहाँ पर कामनाएं कम नहीं होती वहां पर जितने संसारी देखो संसारी लोगों को विषयी लोगों को देखो तो नाना प्रकार के कई स्वादिष्ट वस्तु खाने के चाहिए सुनने के लिए ये चाहिए सुनने के लिए संगीत चाहिए और उसके लिए ये चाहिए आप जो चंद्र चलते हैं बहुत अच्छा लग रहा है बड़ा मजा आ रहा है संसारी व्यक्तियों के बीच में वहाँ तो ठीक है वो तो सब कुछ वहाँ पर है लेकिन आप देखोगे भगवान के भक्तों के बीच में देखोगे तो यहाँ सब लोग सही है तो क्या उनका हृदय तुम तो सब सबको सुना उसमें उनसे पहले कहा हम्म, तो कहते हैं जिन जिन हरिजन हुए उनका नकामा और जिले जन के संकल में भागा अब तक तो जैसे बसारे को हुए तो तमाम एक पतंगे तमाम पैदा हुए कीड़े तमाम पैदा हुए किचुए तमाम पैदा हुए उन्हीं को सबको बोल दिया विविध जन को संकुल नई पृथ्वी में तमाम जीव जंतु पैदा हो गए वही समझ तो कैसे हो गए कि प्रजा बाल जन पाए सुराजा जब राज्य अच्छा होता तो प्रजा करती है हम्म। उसके जो है प्रजा का जो हो प्रजा में सदगुण बढ़ते हैं भौतिक समृद्धि आती है उनकी संख्या भी बढ़ती है और जब प्राग रोता है तो आपस में लड़ लड़ करके वहाँ सब लोग मर जाते हैं हाँ? है मृत्यु देवी देवी तो को संकुल में देवी पाए सुराजा सुराजा के बना अच्छा राज प्राप्त करके अच्छा राजा प्राप्त करके जहाँ कहाँ रहे पति के खजाना है क्योंकि तो जहाँ कहाँ यात्री लोग जो है हो अब बरसा ऋतु में फैल जाते हैं यात्रा नहीं करते विश्राम करने लगते प्राचीन काल में बरसात ऋतु में आजकल तो ट्रेन भी बरसात ऋतु चलते पचास मिनट में घुस गए अच्छा पानी का फोटो अगड़े गए आपकी ट्रेन चली जा रहे हैं तो यात्रा तो प्राप्त हो सकते लेकिन पहले ये सब करते थे बार बरसात ऋतु में यात्रा यात्रा बनी हो जाती जहाँ तहाँ रहे प्रकृति तो प्रति जाना जिन इंद्रिय जन उपजे जाने अभी ये देखो तो सब अध्यात्म विद्या सब इसमें आ रही थी सब लोग रेखा बता दें तो जैसे ज्ञान पर निर्भर होता है आत्मज्ञान तत्व ज्ञान प्रभु ज्ञान जो प्राप्त हुआ तब इंद्रिया स्थगित हो जाती है मैंने वो विषयों को वितरण करना बंद कर दिया हम्म? जब विषयों के मन में विषयों की लालसा नहीं रह गई और इंद्रियों के विषय की कामना नहीं रह गई उसमें उनका प्रचार नहीं रह गया तो समझो कि अब आत्मा में स्थिरता आ गई आत्मज्ञान हो गया आत्मा के आनंद को प्राप्त करने लगे कभी ऊपर वाले बहन मारे कि जहाँ तहाँ मेरे बिना अब कहते हैं देखो बच्चा रुकने आखिर में जब बरसात समाप्त होने लगती है तो बारिश कम आ जाती है और हवा चलने लगती है तो हवा चलती है तो कभी कभी हवा चले तो मेघ बिजली हो जाते हैं तब हम प्रबल बारम्बार जोर जगह चल गए तो बादल जो है उड़ जाते हैं जहाँ तहाँ मेघ दिलाए जहाँ तहाँ बादल जो है जिन कपूर के पेड़ उपजे कपुल शब्द निशान जैसे वंश में कपूर पैदा हो गया तो वो क्या करेगा वो दुष्ट स्वभाव का होगा भौतिकवादी होगा पाप कर्मों में प्रवृत्त होगा और कुल के तो धर्म को नष्ट हो जाए हर कुल का अपनी एक मर्यादा होती है और एक धर्म चलता है धर्म जो है वो कुल परंपरा से भी चलता है धर्म का विचार अनेक प्रकार से करना पड़ता है यही करना पड़ता है हर व्यक्ति आप जैसे ब्राह्मण कुल है क्षत्रिय कुल है वैश्य कुल अब इनके तो अपने अपने कुल हैं अपना अपना वंश है उनके अब तक पूर्वजों ने किस प्रकार के कार्य कार्य किए मर्यादाएं निर्धारित की है उन्हीं के अनुसार चलते हैं वैसे रीत रिवाज इस प्रकार के अपने अपने परिवारों के अलग अलग ढंग के होते हैं तो वो सब चलते रहते हैं ये विद्युत जो वो हो संयमी हुआ अनुशासित हुआ तो पुत्र उनको सबको अपने पिता से बाबा से उनको सबको ग्रहण कर लेता है तो वही मर्यादा से उसी प्रकार से फिर आगे भी चलता रहता है कपूर पैदा हो गया तो बस वो सबको भुला देगा सब उतर जाएगा अपनी मनमानी करने लगे हम सब पुराने काम करते हैं तो कथाएं इस प्रकार की आती अब भागवत में देखो शुरू में कथा आती है एक गोकर्ण हो गए एक धूल हो गए निकाली ने अपने ग्रंथ का क्या किया अब हम्म? देख लो ऐसे कपूर देते हैं वो क्या दशा कर देते हैं तो ये कहते हैं कि जिन कपूर के उपजे कुल सब धर्म नशा कदम दिवस काम बलतन कदम को प्रकट पताएंगे अब कहते तो हैं कि दिन में कभी तो सूर्य जो है वो हो दिखाई देता है और कभी कभी बादल आ जाते हैं तो सूर्य जाता है दोनों बातें होती हैं कभी दिवस दिवस में मैंने दिन के समय ये भी बादल आ गए खूब अंधेरा हो गया और कभी तो प्रकट पतन में सूर्य और कभी बादल हट गए तो सूर्य चमक पड़ा तो प्रकाश भी हो गया प्रकाश में कभी प्रकाश कभी अंधेरा दिन के समय होता रहता है कैसे कि दुरी सही हो तो जो ज्ञान गुण पाए कुसंग सुसंग ऐसे ही कि सत्संग और कुसंग उसका परिणाम क्या है कुसंग में गए तब तो समझे कि बस ज्ञान नष्ट हो गया सत्संग में आ गए तो ज्ञान प्रगट